इतना आग्रह है क्योंकि तथ्य से सत्य तक जाया जा सकता है सिद्धांतों से सत्य तक कोई कभी नहीं जा सकता जो वास्तविक स्थिति है जो एक्चुअलिटी है जो मनुष्य की वास्तविकता है उससे तो हम कहीं आगे बढ़ सकते हैं और भी अगर ये स्मरण आ जाए कि हमारा अज्ञान है हम नहीं जानते हैं तो फिर ना आप हिंदू रह जाते न मुसलमान न जैन न ईसाई वे सब ज्ञानियों के दम है अज्ञानी का कौन सा धर्म हो सकता कौन सी फिलसफी हो सकती अज्ञानी का कौन सा शास्त्र हो सकता ज्ञानियों के शास्त्र हो सकते सिद्धांत हो सकते संप्रदाय हो सकते अज्ञानी का तो कुछ भी संप्रदाय नहीं हो सकता कोई शास्त्र नहीं हो उसकी कोई गीता नहीं उसका कोई कुरान नहीं उसके कोई कृष्ण नहीं उसके कोई महावीर नहीं उसका तो एक ही कहना है कि मैं नहीं जानता हूं इसलिए वो दावेदार नहीं उसका कोई दावा नहीं उसका कोई विरोध नहीं उसका कोई विवाद नहीं ऐसा निर्विवाद में खड़ा हुआ व्यक्ति और स्मरण रहे जब तक ज्ञान का दावा है तब तक विवाद से मुक्त कोई भी नहीं हो सकता है कोई कितना ही कहे कि मैं विवाद नहीं करता अगर उसको ये ख्याल है कि मैं जानता हूं वो विवाद में है हर ज्ञानी विवाद में है विवाद में रहेगा और विवाद में मरेगा निर्विवाद वही हो सकता है जिसे ज्ञान का भ्रम न हो जैसे ही ये भ्रम टूट जाता है कि मैं जानता हूं एक ह्यूमनिटी एक विनम्रता पैदा होनी शुरू होती है जो अभूतपूर्व है जिसका आपको कोई परिचय नहीं आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे की भांति हो जाते हैं बूढ़े और बच्चे में क्या फर्क है एक ही फर्क है बच्चे नहीं जानते हैं बूढ़े जानते हैं लेकिन बूढ़ों का जानना झूठ है और बच्चों का न जानना सच है साधक फिर से बचपन को उपलब्ध हो जाता है पहुंच देता है स्मृति को फिर वहां खड़ा हो जाता है जहां बच्चे खड़े हैं छोटे छोटे बच्चों को साधारण से चमकदार पत्थर ऐसे विस्मय से भर देते हैं एक छोटे से पक्षी का गीत किन्हीं ऐसे लोगों में ले जाता है एक छोटी सी हिलती हुई पत्ती उन्हें किसी दूसरे जीवन में किसी दूसरे अवस्था में प्रविष्ट करा देती है बच्चों के लिए जगत बहुत रंग से भरा हुआ बहुत गीत से बहुत ध्वनि से भरा हुआ मालूम पड़ता है ये धूप बहुत स्वर्णिम मालूम पड़ती है ये चांदनी बहुत चांदी जैसी मालूम पड़ती है ये सब कुछ जो हमें अति साधारण दिखाई पड़ता है अति असाधारण प्रतीत होता है क्यों भीतर विस्मय की आंख है जानने वाले का दम्भ नहीं जानने का दम्भ ही मनुष्य के आसपास दीवार खड़ी कर देता है खोल खड़ी कर देता है लोहे की मजबूत दीवार खड़ी कर देता है आदमी उसके भीतर बंद हो जाता है फिर जगत से उसके संबंध टूट जाते हैं जीवन से उसका लेन देन बंद हो जाता है संवाद बंद हो जाता है साधक को ये संवाद वापस उपलब्ध कर लेना है जीवन से कम्युनिकेशन चाहिए और जीवन से संवाद तभी हो सकता है जब ये जानने की खोल टूट जाए मैं तो मित्रों को कहता हूं कि मैं अज्ञान सिखाता हूं ज्ञान बहुत सिखाया जा चुका है ज्ञान मनुष्य को कहीं भी नहीं ले गया सिवाय उपद्रवों के ज्ञान की शिक्षा मनुष्य को बहुत दी जा चुकी और मनुष्य उस शिक्षा से पतित हुआ और कहीं भी नहीं पहुंचा परमात्मा और मनुष्य के बीच बाधाएं खड़ी हुई परमात्मा और मनुष्य के बीच सीढ़ियां नहीं बना सका ज्ञान ज्ञानी शायद ही कभी जीवन को जानने में समर्थ हो पाए हैं नहीं जान सकते हैं क्योंकि जानने का ख्याल इतने अहंकार से भर देता है सारी विनम्रता नष्ट हो जाती है हृदय कठोर और सख्त हो जाता है ज्ञानियों से ज्यादा कठोर आदमी खोजने कठिन है ज्ञानियों से ज्यादा कठोर आदमी मिल ही नहीं सकते ज्ञानियों ने इतनी हत्याएं की और इतनी हत्याएं करवाई ज्ञानी अति कठोर है ज्ञान कठोर करता है एक घटना मुझे बहुत प्रीतिकर है एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और उस मेले के पास ही एक कुएं में एक आदमी गिर पड़ा और वो चिल्ला रहा है कि मुझे निकाल लो मुझे बाहर निकाल लो मैं डूब रहा हूं मैं डूबा जा रहा हूं वो किसी तरह ईटों को पकड़े हुए है किसी तरह संभाले हुए कुआ गहरा है और वो आदमी तैरना नहीं जानता लेकिन मेले में बहुत शोरगुल है किसको सुनाई पड़े लेकिन एक बौद्ध भिक्षु उस कुएं के पास से निकला है पानी पीने को झुका है नीचे से आवाज आ रही उसने झुक के नीचे देखा वो आदमी चिल्लाने लगा कि भिक्षु जी मुझे बाहर निकालने में मरा जा रहा हूं कोई उपाय करें अब मेरे हाथ भी छूटे जा रहे उस भिक्षु ने कहा क्यों व्यर्थ परेशान हो रहा हो निकलने के लिए जीवन एक दुख है भगवान ने कहा जीवन दुख है बुद्ध ने कहा है जीवन दुख है जीवन तो एक पीड़ा है निकल के भी क्या करोगे सब तरफ दुख ही दुख है फिर भगवान ने यह भी कहा कि जीवन में जो भी होता है वो पिछले जन्मों के कर्म फल के कारण होता है तुमने किसी को किसी जन्म में गिराया होगा कुएं में इसलिए तुम भी गिरे हो अपना फल भोगना ही पड़ता है फल को भोग लो तो कर्म के जाल से मुक्त हो जाओगे अब व्यर्थ निकलने की कोशिश मत करो वो भिक्षु तो पानी पी के आगे बढ़ गया उस भिक्षु ने गलत बातें नहीं कही जो शास्त्र में लिखा है वही कहा वो जानता था वो सामने मरता हुआ आदमी उसे दिखाई नहीं पड़ा क्योंकि बीच में उसके जाने हुए शास्त्र आ गए तो आदमी डूब रहा है वो उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है उसे कर्म का सिद्धांत दिखाई पड़ रहा है उसे जीवन की असाधता दिखाई पड़ रही वो उस आदमी को उपदेश दे के आगे बढ़ गया उपदेश सबसे ज्यादा कठोर कोई भी नहीं होता है वो आगे जा भी नहीं पाया है कि पीछे से कंफ्यूशियन मांग एक कंफ्यूशियस को मानने वाला सन्यासी आ गया है उसने भी आवाज सुनी है उसने भी झांक के देखा है उसने कहा मेरे मित्र कन्फ्यूशस ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि हर कुएं के ऊपर घाट होना चाहिए पाठ होना चाहिए दीवाल होनी चाहिए ताकि कोई गिर ना सके इस कुएं पर दीवाल नहीं इसीलिए तुम गिर गए हम तो कितने दिन से समझाते फिरते हैं गांव गांव की जो कन्फ्यूशस ने कहा है वही होना चाहिए तुम घबराओ मत मैं जाके आंदोलन करूंगा मैं लोगों को समझाऊंगा हम राजा के पास जाएंगे हम कहेंगे कि कन्फ्यूशस ने कहा है कि हर कुएं पर दीवार होनी चाहिए ताकि कोई गिर ना सके तुम्हारे राज्य में दीवाले नहीं लोग गिर रहे हैं उसने कहा कि वो सब ठीक है लेकिन तब तक मैं मर जाऊंगा पहले मुझे निकाल लो उस आदमी ने कहा तुम्हारा सवाल नहीं ये तो जनता जनार्दन का सवाल है एक आदमी के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता सबके लिए सवाल है तुम अपने को धन्य समझो कि तुमने एक आंदोलन की शुरुआत करवा दी तुम शहीद हो दुनिया के नेता लोगों को ऐसे ही मूर्ख बनाते हैं कि तुम शहीद हो तुम मर जाओ इससे बड़ा आंदोलन आएगा समाजवाद आएगा साम्यवाद आएगा दुनिया में लोकतंत्र आएगा तुम मरो एक एक आदमी की कोई कीमत नहीं है कीमत तो आदमीयत की है और आदमीयत कहीं भी नहीं सिवाय शब्दों के जहां भी मिलता है आदमी मिलता है आदमीयत कहीं नहीं मिलती ह्यूमेनिटी जैसी चीज कहीं भी नहीं है सिवाय शब्द के शास्त्रों में लिखी है मनुष्यता खोजने से हमेशा मनुष्य मिलता है लेकिन वो शास्त्रों को मानने वाले कहते हैं कि मनुष्यता बचनी चाहिए मनुष्य के बलिदान की कोई फिक्र नहीं एक एक मनुष्य का बलिदान हो जाए लेकिन मनुष्यता बचनी चाहिए वो आदमी डूबता रहा वो आदमी चिल्लाता रहा और वो कन्फ्यूशियस को मानने वाला भिक्षु जाके मंच पर खड़ा हो गया उसने मेले में हजारों लोग इकट्ठे कर लिए और उसने कहा कि देखो जब तक कुओं पर पाठ नहीं बनता तब तक मनुष्य जाति को बहुत दुख झेलने पड़ेंगे हर कुएं पर पाठ होना चाहिए अच्छे राज्य का ये लक्षण है कन्फ्यूशस ने किताब में लिखा हुआ है वो अपनी किताब खोल के लोगों को दिखा रहा है वो आदमी चिल्ला ही रहा लेकिन उस मेले में कौन सुने एक ईसाई पादरी वहां से गुजरा है नीचे से आवाज उसने सुनी है उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारे अपने झोले में से रस्सी निकाली वो अपने झोले में रस्सी रखे हुए उसने रस्सी नीचे फेंकी वो कूदा कुएं में उस आदमी को निकाल के बाहर लाया उस आदमी ने कहा कि तुम्ही एक आदमी मुझे दिखाई पड़े एक बौद्ध भिक्षु निकल गया उपदेश देता हुआ एक कन्फ्यूशियस को मानने वाला भिक्षु निकल गया आंदोलन चलाने चला गया है वो देखो मंच पर खड़ा हुआ आंदोलन चला रहा तुम्हारी बड़ी कृपा है तुमने बहुत अच्छा किया वो ईसाई मिशनरी हंसने लगा उसने कहा कृपा मेरी तुम पर नहीं तुम्हारी मुझ पर है तुम कुएं में ना गिरते तो मैं पुण्य से वंचित रह जाता जीसस क्राइस्ट ने कहा है पता नहीं सर्विस सेवा ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग मैं परमात्मा को खोज रहा हूं मैं इसी तलाश में रहता हूँ कहीं कोई कुएं में गिर पड़े तो मैं कूद जाऊँ कहीं कोई बीमार हो जाए तो मैं सेवा करूँ कहीं किसी की आंखें फूट जाए तो मैं दवा ले जाऊं कहीं कोई कोड़ी हो जाए तो मैं इलाज करूं मैं तो इसी कोशिश में घूमता फिरता हूँ इसलिए रस्सी हमेशा अपने पास रखता हूँ कहीं कोई कुएं में गिर जाए तुमने मुझ पर कृपा की है क्योंकि बिना सेवा के मोक्ष पाने का कोई उपाय नहीं है हमेशा हमेशा ऐसी ही कृपा बनाए रखना ताकि हम मोक्ष जा सके हमारी किताब में लिखा हो उस आदमी ने सोचा होगा कि शायद इसने मुझ पर दया की है तो वो गलती में था इस आदमी से किसी को भी मतलब नहीं है यह आदमी किसी को दिखाई नहीं पड़ता सबकी अपनी किताबें हैं अपने सिद्धांत हैं सबका अपना ज्ञान मनुष्य और मनुष्य के बीच ज्ञान की दीवारें हैं मनुष्य और वृक्षों के बीच ज्ञान की दीवाले हैं मनुष्य और समुद्रों के बीच ज्ञान की दीवाले हैं मनुष्य और परमात्मा के बीच ज्ञान की दीवाले साधक को ज्ञान की दीवार बड़ी बेरहमी से तोड़ देनी चाहिए गिरा देनी चाहिए एक एक ईट गिरा देनी चाहिए जानने की और ऐसे खड़े हो जाना चाहिए जैसे मैं कुछ भी नहीं जानता हूं तो तो जीवन से संबंध हो सकता है अन्यथा नहीं तो तो हम जुड़ सकते तो तो इसी क्षण संवाद हो सकता है इसी क्षण संबंध हो सकता है इसी क्षण कौन रोकता है फिर फिर कौन बाधा देने को एक सुबह कबीर ने कहा कि कमाल जा जंगल से थोड़ी घास काट ला कमाल जंगल गया सुबह गया दोपहर हो आई कबीर रास्ता देख रहा है रास्ता देख रहा है फिर सांझ होने लगी फिर उसने कहा कि कमाल क्या करने लगा है घास काटने भेजा था जरूरत थी गाय को खिलानी थी वो कहा है फिर कबीर खोजते हुए जंगल में गया वहां कमाल गले गले घास के बीच में खड़ा है हवाओं के झोंके घास को हिला रहे हैं कमाल भी उसके साथ हिल रहा है कबीर ने जाकर उसे पकड़ा और कहा पागल ये क्या कर रहा है उसने आंख खोली उसकी आंख बंद थी उसने आंख खोली उसने कहा कि मैं काटने में असमर्थ हो गया मैं जब आया यहां इतने आनंद में घास झूमती थी सूरज की ऐसी स्वर्ण वर्षा हो रही थी हवाएं इतनी ताजी थी और घास इतने आनंद में झूमती थी कि मैं भी झूमने लगा मेरा भी संबंध हो गया घास से तुम आए और तुमने मुझे हिलाया तो मुझे पता चला कि मैं कमाल हूं मैं तो सोच रहा था मैं भी घास का एक हिस्सा हूं मैं भी घास हूं फिर कौन किसको काटता मैं तो घास हो गया कबीर की समझ में शायद आया या नहीं आया लेकिन कमाल ने कहा मैं तो घास हो गया जब कोई व्यक्ति सागर के पास ऐसे बैठ जाए तो उसका कोई ज्ञान नहीं है तो वो थोड़ी देर में पाएगा कि वो सागर हो गया है संवाद शुरू हो गया वो वृक्ष के पास बैठ जाए उसका कोई ज्ञान न हो कोई दंभ न हो कोई अहंकार न हो कोई ईगो न हो वो थोड़ी देर में पाएगा वो वृक्ष हो गया वो फूल के पास बैठ जाए वो थोड़ी देर में पाएगा वो फूल हो गया एक संबंध है जो ज्ञान तोड़ता है जो ज्ञान के कारण नहीं बन पाता वो संबंध बन जाए तो जीवन चारों तरफ से वो खबर बेचने लगता है जिसे हम प्रभु की खबर कहें पक्षियों के गीत से वो ध्वनि आने लगती है जो वेदों से नहीं आती वृक्षों की कपटी टहनियों से वो आवाज आने लगती है जो कुरान में नहीं है जो महावीर नहीं कह सकते जो बुद्ध नहीं कह सकते जो कोई वाणी नहीं कह सकती वो मौन में प्रकट होनी शुरू हो जाती है लेकिन उसके लिए पात्रता चाहिए अज्ञानी का सरल विनम्र हृदय चाहिए ज्ञानी का दंभ और कठोर से मजबूत मन नहीं इसलिए पहली सीढ़ी पर आपसे ये कहना चाहता हूं अज्ञानी हो जाए अज्ञानी है इसे जान ले इसे पहचान ले और ये बड़े रहस्य की बात है कि जो अपने अज्ञान को पहचानता है उसने ज्ञान की तरफ पहला कदम उठा लिया वे लोग जो जान लेते हैं कि नहीं जानते जानने की तरफ उनकी गति शुरू हो गई वे किसी दिन जान भी सकेंगे किसी दिन जानना भी हो जाएगा लेकिन विनम्रता चाहिए जानने के लिए और विनम्रता अज्ञान के अतिरिक्त कहीं भी नहीं है कहीं भी नहीं हो सकती तो साधक के लिए पहला सूत्र है अज्ञान का बोध अज्ञान का बोध इस बोध के लिए न तो शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत है क्योंकि जो शास्त्र को पढ़ लेते हैं उन्हें ये बोध पाने में सिवाय कठिनाई के और कुछ भी नहीं होता न इस बोध को प्राप्त करने के लिए किन्हीं गुरुओं के पास जाने की जरूरत है क्योंकि गुरुओं के पास ज्ञान मिल सकता है अज्ञान का बोध कैसे मिलेगा न इस अज्ञान के बोध के लिए सत्संगों की जरूरत है क्योंकि वहां सब शब्द और सिद्धांत मिल सकते हैं ये बोध कैसे मिलेगा इस बोध के लिए तो एकांत में अकेले में अपनी वस्तु स्थिति समझने की जरूरत है क्या मैं जानता हूं ये अपने से बार बार पूछ लेने की जरूरत है क्या मैं जानता हूं भीतर से उत्तर आएगा कि नहीं नहीं जानते हो सकता है जाने हुए सिद्धांत बीच में खड़े हो जाएं और कहें कि हाँ जानते हो तो थोड़ा उन सिद्धांतों को परख लेना ये मैंने सुन के सीखे हैं पढ़ के सीखे हैं या मैं जानता हूं ये मैंने शास्त्र से सीखे हैं ये शब्द हैं सिद्धांत हैं या मेरी अनुभूतियां हैं इतना उनसे पूछ लेना तो वो तत्क्षण गिर जाएंगे वो खड़े नहीं रह सकेंगे ज्ञान एकदम बेबुनियाद है एक जरा से धक्के की जरूरत है कि जैसे ताश के पत्तों का महल गिर जाता है ऐसे ही गिर जाएगा ज्ञान बिल्कुल कागज की नाव है छोड़ो उसे पानी में और डूब जाएगी ज्ञान हमारा है ही नहीं सिर्फ हम बनाए हुए बैठे हैं और माने हुए बैठे हैं कि है जब तक हम माने हुए बैठे हैं तब तक वो है जिस दिन हम आंख खोल के पहचानेंगे उसी दिन वो नहीं हो जाता है और जिस दिन ज्ञान नहीं हो जाता है उस दिन फिर जीवन में प्रवेश का द्वार खुलता है तो आज की सुबह की चर्चा में एक ही बात आपसे करना चाहता हूँ अज्ञान को उपलब्ध कर ले अज्ञान का भाव बड़ी धन्यता है बड़ी कृतार्थता है छोड़ दें कचरे को जो जान लिया अज्ञान की अपनी गहराई है जो किसी ज्ञान में नहीं क्योंकि ज्ञान कितना भी होगा सीमित होगा अज्ञान असीम हो सकता है अज्ञान असीम है ज्ञान कितना ही होगा और आगे बढ़ाया जा सकता है अज्ञान अनंत है उसमें और कुछ नहीं जोड़ा जा सकता आप जानते हैं तो कुछ और जान सकते हैं कुछ और जान सकते हैं कुछ और जान सकते हैं आप नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं अब इसमें कुछ जोड़ने घटाने का उपाय नहीं ऐसा जो अज्ञान का बोध है उसे अगस्टीन ने एक शब्द दिया था उसने कहा था डिवाइन इग्नोरेंस दिव्य अज्ञान सच में ही अज्ञान की बड़ी दिव्यता है क्योंकि अज्ञान में अहंकार के खड़े होने का कोई उपाय नहीं और जहां अहंकार नहीं है वही दिव्यता शुरू हो जाती और जहां अहंकार के खड़े होने का उपाय है वहीं दिव्यता खंडित हो जाती है तो ये तो सुबह की थोड़ी सी बात मैंने आपसे कही इसे सोचे परखे पहचाने और अगर दिखाई पड़ता हो तो गिरा दे ज्ञान के मकान को गिरा दे ताकि अज्ञान का मंदिर खड़ा हो सके ज्ञान के सब मकान है अज्ञान का अपना मंदिर है इस बात के बाद सुबह के ध्यान के लिए हम बैठेंगे तो मैं सुबह के ध्यान के संबंध में दो तीन बात आपको कर दू फिर हम ध्यान के प्रयोग के लिए बैठे ध्यान तो बड़ी सरल सी बात है जो भी महत्वपूर्ण है वो सरल ही हो सकता है कठिनाई हमेशा असत्य के साथ होती है सत्य के साथ कोई कठिनाई नहीं ध्यान बड़ी सरल सी बात है एकदम सरल सी बात है कुछ भी करना नहीं है थोड़ी देर को ना करने की अवस्था में अपने को छोड़ देना ना करने की अवस्था में स्टेट ऑफ नॉट डूइंग कुछ भी नहीं करना है थोड़ी देर को छोड़ देना है ये तो इतना अच्छा अवसर है यहाँ ये इतनी सुंदर जगह है कि यहां ना करने में छोड़ना एकदम आसान है ना करने के क्या सूत्र होंगे ना करने का पहला सूत्र तो ये है कि मन में करने का कोई भाव ना हो हम ध्यान करने बैठते हैं तो भाव होता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं पूजा कर रहा हूं प्रार्थना कर रहा हूं मैं कुछ कर रहा हूं करने का भाव तनाव पैदा करता है टेंशन पैदा करता है जहां करने का भाव आया तनाव आया करने के भाव के पीछे अशांति आएगी ही ना करने के भाव के पीछे शांति आ सकती है विश्राम आ सकता है तो पहली बात अभी जब हम ध्यान के लिए बैठेंगे हमारी सारी भाषा करने की भाषा है ध्यान करने बैठेंगे ऐसा कहेंगे गलत है कहना क्योंकि ध्यान में करने जैसी कोई संभावना नहीं लेकिन हमारी सारी भाषा मनुष्य की सारी भाषा करने की भाषा है ना करने की हमारे पास कोई भाषा नहीं जापान में कोई डेढ़ सौ वर्ष पहले एक बहुत बड़ी मनुष्य थी एक बड़ा आश्रम था वहां कोई 500 भिक्षु साधना करते सम्राट उत्सुक हो गया उस आश्रम को देखने और गया दूर दूर जंगल में फैला हुआ वो आश्रम था दूर दूर फैली हुई कुटिया थी एक एक कुटी को दिखाने लगा भिक्षु जो प्रधान था और बताने लगा इस कुटी में हमारे भिक्षु भोजन बनाते इस कुटी में हमारे भिक्षु अध्ययन करते इस कुटी में गीत गाते यहाँ ये करते वहां वो करते वहां स्नान करते बीच में बड़ा भवन है आश्रम का वो भिक्षु उस भवन के बाबत कुछ भी नहीं कहता है राजा बार बार पूछने लगा ठीक है ठीक है लेकिन इस बड़े भवन में क्या करते हैं ये बात सुनते ही वो भिक्षु चुप हो जाता जैसे बहरा हो गया हो जैसे उसे सुनाई नहीं पड़ता हो फिर दूसरी कुटियों के बाबत बताने लगता फिर पूरा आश्रम घूम लिया गया उस बड़े भवन के आस पास चक्कर लग गया लेकिन उस बड़े भवन के संबंध में एक शब्द नहीं फिर वे द्वार पर आ गए और राजा विदा होने लगा और राजा ने कहा मैं समझता हूँ या तो मैं पागल हूँ या तुम जो भवन में देखने आया था उसके संबंध में तुमने एक शब्द भी नहीं कहा मैंने बार बार पूछा तुम बहरे हो जाते हो क्या इस बड़े भवन में क्या करते हो वो भिक्षु कहने लगा बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं आप आप बार बार पूछते हैं कि इस बड़े भवन में क्या करते हो तो मैं समझ गया कि आप करने की भाषा ही समझ सकते हैं इसलिए मैंने बताया कि यहां हम स्नान करते हैं यहाँ हम भोजन बनाते हैं यहाँ हम भोजन करते हैं यहाँ हम किताब पढ़ते हैं तो मैंने करने की भाषा में बताया मैंने एक्शन की भाषा में बताया अब रह गया बीच का भवन बड़ी मुश्किल है वहां हम कुछ भी नहीं करते वहां तो जब कोई भिक्षु कुछ भी नहीं करना चाहता तो चला जाता है वो हमारे ध्यान का भवन है वो मेडिटेशन हॉल है और आप पूछते हैं वहां क्या करते हो तो आप मुझे मुश्किल में डालते हैं अगर मैं कहूं कि हम वहां ध्यान करते हैं तो गलती होगी क्योंकि ध्यान का करने से कोई संबंध नहीं वहां हम कुछ भी नहीं करते हैं ये जो ध्यान की बात मैं कर रहा हूं ये कुछ भी ना करने की बात है आपने राम राम जपा होगा उसको ध्यान कहा होगा आपने माला फेरी होगी उसको ध्यान कहा होगा आपने गायत्री पढ़ी होगी उसको ध्यान कहा होगा आपने नमोकार जपा होगा उसको ध्यान कहा होगा वो कोई भी ध्यान नहीं जब तक आप कुछ कर रहे हैं तब तक आप ध्यान में नहीं जा सकते चाहे माला फेरते हो चाहे राम राम जपते हो चाहे गायत्री चाहे नमोकार चाहे कुछ और जब तक आप कुछ कर रहे हैं तब तक आप ध्यान के बाहर हैं जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं सब मौन सब शांत हो गया सब शिथिल हो गया करने का सारा यंत्र चुप हो गया तब आप ध्यान में प्रविष्ट होते हैं ध्यान एक अक्रिया है ध्यान एक अक्रिया है तो यहां हम ध्यान में अभी जाएंगे तो कैसे जाएंगे अक्रिया में कैसे जाएंगे अक्रिया में जाने का पहला सूत्र तो यह जान लेना है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं भाव में यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं मैं ना करने में डूबने वाला हूं भाव के तल पर यह बोध कि मैं ना करने में बैठ रहा हूं मैं चुपचाप सिर्फ शिथिल होकर बैठ जाऊंगा कुछ भी नहीं करूंगा पहली बात दूसरी बात आप शिथिल होकर बैठ जाएंगे तो भी हवाएं तो बहती रहेंगी हवाएं तो शिथिल नहीं हो जाएंगी पक्षी तो बोलते रहेंगे वो कौआ बोल रहा है वो आवाज देता रहेगा सागर गर्जन करता रहेगा वृक्षों के पत्ते हिलेंगे और आवाज होती रहेगी ये सब तो होता रहेगा आप निष्क्रिय हो जाएंगे लेकिन ये सारा जगत तो अपनी पूरी क्रिया में गतिमान होगा इस सारी क्रिया के प्रति आप क्या करेंगे इस सारी क्रिया के प्रति आप सिर्फ जागरूक बने रहना होश से भरे रहना अवेयर बने रहना ये कौआ बोले तो ये आपको सुनाई पड़ता रहे ये सागर गर्जन करे तो आपको सुनाई पड़ता रहे ये हवाएं आए और वृक्षों को हिलाएं तो आपको सुनाई पड़ता रहे ये जो चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है वो आपके बोध में आपके जागरण में आपको अनुभव होता रहे बस आप कुछ मत करना सिर्फ जागे रहना सिर्फ सुनते रहना और स्मरण रहे जागना कोई क्रिया नहीं है जब आप किसी क्रिया में होते हैं तब भीतर आपका जागरण सो जाता है जब आप बिल्कुल अक्रिया में होते हैं तब जागरण पूरा प्रकट हो जाता है जागरण कोई क्रिया नहीं है मनुष्य का स्वभाव है कोई एक्ट नहीं है कोई कर्म नहीं है मनुष्य की चित्त दशा है मनुष्य की चेतना है तो सिर्फ सचेत होश से भरे हुए कॉन्सियस चुपचाप मौन से इन वृक्षों के पास बैठे रहना श्वास चलती रहेगी तो श्वास को चुपचाप अनुभव करते रहे और सुनते रहे चारों तरफ जो भी सुनाई पड़ रहा है उसे सुनते रहे सुनते ही सुनते आप हैरान हो जाएंगे एक दो क्षण भी मौन से सुनते ही भीतर गहरी शांति उतरनी शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में सब विलीन हो जाएगा एक सन्नाटा भर भीतर रह जाएगा उस सन्नाटे में कोई पक्षी बोलेगा तो उसकी गूंज सुनाई पड़ेगी गूंज विलीन हो जाएगी सन्नाटा और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा कोई चीज बाधा नहीं डालेगी हर चीज जो चारों तरफ हो रही है सहयोगी बन जाएगी मित्र बन जाएगी एक बार आप शिथिल और मौन होकर रह जाए विचार अपने आप शांत हो जाएंगे विलीन हो जाएंगे उन्हें शांत करना नहीं पड़ता है उन्हें हटाना भी नहीं पड़ता है जो मौन में बैठ के चारों तरफ के जगत के प्रति जागरूक हो जाता है धीरे धीरे उसके विचार अपने आप समाप्त हो जाते ये अभी और यही हो सकेगा इसके पहले कि हम बैठे थोड़े दूर दूर हम बैठ जाएंगे ताकि कोई किसी को छूता हुआ ना हो और यहाँ तो इतनी फैली जगह है इतने वृक्ष हैं अपना अपना वृक्ष चुन लें थोड़े फासले पर हो जाएं ताकि आप बिल्कुल अकेले में निष्क्रिय हो सके थोड़े हट जाएं कोई किसी को छूता हुआ ना हो दूसरे का हाथ थोड़ा छोड़ छोड़ो अब आगे हटाओ अब हट सकती हो हम्म। थोड़े फासले पर हो जाए थोड़े दूसरे से फासले पर हो जाए कोई बात ना करे क्योंकि बात की कोई जरूरत नहीं है चुपचाप हट जाएं अलग अलग होने का मजा क्यों छोड़ते हैं चुपचाप हट जाए बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। शरीर को कोई तनाव नहीं देना है जैसा आपको सुखद मालूम पड़े वैसे बैठ जाएं। न किसी आसन की जरूरत है न शरीर पर कोई स्ट्रेन कोई तनाव डालने की बिल्कुल आराम से बैठ जाए और बीच में भी आपको लगे कि पैर भारी हो गया तो चुपचाप बदल लें आपको लगे कि हाथ थक गया तो बदल लें आपको जैसा लगे बीच में घबराए ना कि शरीर को हिलाएंगे तो ध्यान नष्ट हो जाएगा ध्यान के शरीर के हिलने से कोई संबंध नहीं शरीर हिलता रहे और मन भीतर शांत और निष्क्रिय बना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन आपका पैर भारी हो गया अब आप जबरदस्ती उसको रोके हुए बैठे तो आपका सारा चित्त पैर पर ही पकड़ जाएगा और कहीं भी नहीं जाएगा बिल्कुल ढीला छोड़ दे आख आहिस्ता से बंद कर ले इतने धीरे से आंख बंद करें कि आंख पर भी तनाव न मालूम पड़े पलक को छोड़ दें अपने आप पलक बंद हो जाएगा धीरे से छोड़ दें आंख धीरे से बंद कर ले अब सबसे पहले मस्तिष्क को बिल्कुल ढीला छोड़ दे कोई तनाव नहीं बिल्कुल ढीला छोड़ दे हम कोई काम नहीं कर रहे हैं विश्राम में जा रहे हैं मस्तिष्क पर कोई भार ना रखें बिल्कुल ढीला छोड़ दे जैसे बंधी हुई मुट्ठी कोई खोल दे ऐसा मन के सारे स्नायुओं को ढीला छोड़ दे कोई भार न रह जाए ठीक है अब मौन कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस भाव में प्रविष्ट हो जाए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं इस भाव में प्रविष्ट हो जाए मैं कुछ भी नहीं कर रहा फिर चुपचाप सुनते रहे हवाओं को पक्षियों को मौन सुनते रहे बस सुनते रह जाएं, जाके रह जाएं, सुने सुनते रहे पक्षियों की वाणी को सागर के गर्जन को हवाओं की आवाज को सुनते रहे कोई तनाव नहीं बिल्कुल शांति से सुनते रहे सुनते सुनते ही मन मौन होता जाएगा सुनते ही सुनते मन शांत होता जाएगा एक गहरा सन्नाटा भीतर पैदा हो जाए आप भूल जाओगे कि आप हो हवाएं रह जाएंगी सागर रह जाएगा पक्षी रह जाएंगे आप नहीं सुने दस मिनट के लिए बिल्कुल सुनते रह जाए शांत मौन अंतर रहस्य नहीं प्रार्थना करें लेटा लेटा मौन सुनते रहे शाम सुनते रहे धीरे धीरे मन बिल्कुल शांत होता जाएगा मन शांत हो जाए मन बिल्कुल मौन हो जाए हवाएं रह गई पक्षी रह गए आप मिट गए बिल्कुल मिट जाए आप है ही नहीं देखें चुपचाप आप मिट गए मन शांत मन शांत होता जा रहा है मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है मन शांत होता जा रहा है मन शांत होता जा रहा है मन बिल्कुल शांत हो गया है हवाएं रह गई पक्षियों की आवाज रह गई आप मिट गए बिल्कुल मिट जाए सब कुछ शांत हो गया बिल्कुल शांत हो मन धीरे धीरे दो चार गहरी सांस लें धीरे धीरे दो चार गहरी सांस लें फिर बहुत आहिस्ता से आंख खोले जैसे भीतर सब शांत है वैसे ही बाहर भी सब शांत दिखाई पड़ेगा धीरे धीरे आंख खोले धीरे धीरे आंख खोले सी बात अंत में आपसे कह दू फिर सुबह की बैठक समाप्त होगी वो ये कि ध्यान में हो सकता है कुछ व्यक्तियों को भावावेश की स्थिति पैदा हो उससे किसी दूसरे को चिंतित होने की जरूरत नहीं हो सकता है कुछ भाव प्रकट होने चाहे कोई रोने लगे कोई हंसने लगे तो भी दूसरों को जरा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं और किसी के भी भीतर कोई भाव प्रकट होना चाहे तो उसे भी दबाने की जरूरत नहीं उसे चुपचाप बह जाने देना है उसके बह जाने के बड़े बड़े गहरे परिणाम है उसके मुक्त हो जाने के बड़े गहरे लाभ है अगर भीतर कोई भी भाव प्रकट होना चाहे तो उसे बिल्कुल रोकने की जरूरत नहीं यहाँ सब साधक इकट्ठे हुए हैं वो एक दूसरे को समझेंगे कोई भी स्थिति पैदा हो दूसरों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है और किसी के भी भीतर कोई भाव पैदा होने लगे तो उससे रोकने की जबरदस्ती कोशिश करने की भी जरूरत नहीं किसी को रोने का ख्याल आ जाए तो रो किसी के आंसू बहने लगे तो बह जाने दे जैसा मन हो हो जाने दे कोई चीज भीतर रुकी है सब है वो बह जाए तो उसके बाद पीछे मन बहुत गहरी शांति को उपलब्ध होता है इसलिए उसकी जरा भी चिंता लेने की जरूरत नहीं सुबह की बैठक समाप्त हुई खुश नेति नेति टॉक्स फ्रॉम द सीरीज शून्य की नाव given at meditation camp Nargol India discourse number three सुबह जो कुछ मैंने कहा है उस संबंध में बहुत से प्रश्न आए हैं एक मित्र ने पूछा है कि क्या सारा ज्ञान ही आध्यात्मिक जीवन में बाधा है क्या शास्त्र व्यर्थ है क्या सिद्धांतों दर्शनों को जो हम जानते हैं उससे सत्य की दिशा में कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं होता है ऐसे ही और भी कुछ मित्रों ने प्रश्न पूछे हैं एक छोटा सा बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था सुबह का सूरज निकला है सूरज की स्वर्ण जैसी किरणें घर के बगीचे में बरस रही हैं सुबह की ताजी हवाएं हैं तितलियां फूलों पर उड़ रही हैं और वो बच्चा घास में लेटा हुआ खेल रहा है तभी उसे ख्याल आया है कि सूरज की इन नाचती किरणों को काश वो कैद कर ले बंद कर ले अपने पास सुरक्षित कर ले वो भीतर गया है और एक पेटी ले आया है उसने सूरज की किरणों को बंद कर लिया है उस पेटी में हवाओं को बंद कर लिया है और फिर खुशी से नाचता हुआ पेटी को लेकर भीतर अपनी माँ के पास पहुंच गया और उसने कहा है कि तुझे पता भी नहीं मैं पेटी में क्या बंद कर लाया हूं सूरज की नाचती हुई किरणें सुबह की हवाएं वो सब मैं इसमें बंद कर लाया उसे पता भी नहीं कि जिसे उसने बंद किया है वो बंद नहीं किया जा सकता है उसे पता भी नहीं कि वो पेटी को भीतर ले आया है सूरज की किरणें बाहर ही रह गई है उसकी माँ हंसने लगी और उसने कहा खोल अपनी बेटी को खोल मैं भी देखूं तो किन किरणों को पकड़ लाया है क्योंकि मैंने सुना नहीं अब तक की किरणें कोई पकड़ कर ले आता है और मैंने सुना नहीं कि कोई सुबह की हवाएं भी पेटियों में बंद हो जाती है उसने खुशी में और माँ को चमत्कृत करने के लिए पेटी खोली है और दंग खड़ा रह गया उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं उसकी पेटी में तो गुप्त अंधकार है वहां तो कोई भी सूरज की किरण नहीं वहां तो सुबह की कोई ताजी हवा नहीं और वो रोने लगा है और कहने लगा कि क्या मैंने तो बंद किया था वो सब किरणें कहा गई मनुष्य भी सत्य के सागर के किनारे जीवन की जिन हवाओं को प्रभु की जिन किरणों को अनुभव करता है सोचता है शब्दों की पेटियों में शास्त्रों में बंद कर ले बड़े श्रम से ये पेटियां बंद की जाती हैं लेकिन जब भी कोई उन पेटियों को खोलता है तो वहां कोरे शब्दों के अतिरिक्त खाली पेटियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे बंद करने का कोई भी उपाय नहीं है बंद करने के रास्ते कोई भी हो शब्द भी अनुभवों को बंद करने के पेटियों से ज्यादा नहीं है जीवन जो जानता है शब्दों में हम उसे कैद करके प्रकट करना चाहते हैं कोशिश करते हैं कि उसे पकड़ लें जो हमने जाना और शब्दों में बांध दें लेकिन शब्द ही हाथ में रह जाते हैं जिसे बांधा था वो बंधन के हमेशा बाहर है परमात्मा को किसी भी बंधन में बांधने का कोई उपाय नहीं मौन में तो उसे कहा जा सकता है शब्दों में कहने का कोई मार्ग नहीं शून्य में तो उसके अनुभव को पाया जा सकता है लेकिन शास्त्रों से उसे निकाल लेने की कोई राह नहीं लेकिन हम शास्त्रों से जो कुछ उपलब्ध करते हैं सोचते हैं वो ज्ञान है वो शब्द हैं कोरे जिन्होंने उन शब्दों को कहा था उन्होंने सोचा होगा कि जो वे जान रहे हैं शायद शब्दों में बांध दिया जा सके उनकी करुणा है इसके पीछे उनका प्रेम है इसके पीछे मनुष्य जाति भी उस सब को जान ले जो उनको ज्ञात हुआ है लेकिन नहीं शब्दों में कुछ भी उतर के नहीं आता है जैसे खाली कारतूस हो ऐसे सभी शब्द खाली कारतूसों की तरह हैं जिनके भीतर कोई अनुभव बंधा हुआ नहीं आता आपके पास अपना अनुभव हो तो शब्द भी सार्थक हो जाते हैं लेकिन आपके पास अपना अनुभव ना हो तो शब्द खाली कारतूस है उनमें कुछ भी नहीं है उन शब्दों को इकट्ठा करते रहे ब्रह्म को अद्वैत को आत्मा को सच्चिदानंद को इन सब शब्दों को इकट्ठा करते रहे इनका अंबार लगा लें इनकी तिजोड़ी भर लें और आपको सिर्फ भ्रम पैदा होगा कि आपने कुछ जान लिया है आप कुछ जान नहीं सकेंगे और ये भ्रम बाधा है इसलिए मैंने कहा ज्ञान नहीं ले जाता परमात्मा के द्वार तक बल्कि ये प्रतीति ले जाती है कि मैं नहीं जानता हूं ये जानने का भ्रम शब्दों से पैदा हो जाता है ये जानने का भ्रम शास्त्रों से पैदा हो जाता है सिद्धांतों से पैदा हो जाता है जिस व्यक्ति को खोज करनी हो उसे साहस करना पड़ता है सत्य को पाना हो तो शब्दों को छोड़ने का साहस करना पड़ता है हमारा ज्ञान शब्दों के जोड़ के अतिरिक्त और क्या है और इस ज्ञान से हमने भीतर अपने क्या कर लिया है सिवाय इसके कि हमारी अस्मिता हमारी ईगो हमारा अहंकार मजबूत हो गया हमें लगने लगा हो कि मैं कुछ हूं क्योंकि मैं जानता हूं हमारे ये मैं का पत्थर और भी भारी और बजनी हो गया हो किस लिए हमने ये शब्द इकट्ठे कर रखे हैं शायद इसीलिए ताकि मुझे ज्ञात हो सके अनुभव हो सके कि मैं कुछ हूं मैं जानता हूं मैं अज्ञानी नहीं हूं मैं एक बात इस संबंध में आपको कहूं जो भी बात आपके अहंकार को मजबूत करती हो आप भली भांति जान लेना वो जीवन सत्य की खोज में दीवाल बन जाएगी बाधा बन जाएगी पत्थर बन जाएगी जो भी चीज आपके मैं को मजबूत करती हो घनीभूत करती हो और ये भ्रम पैदा करती हो कि मैं हूं एक समुद्र के तट पर जैसे हम आज यहां बैठे हैं एक सांझ सूरज डूबता था और एक बाप अपने छोटे से बेटे के साथ समुद्र के किनारे बैठा हुआ सूरज डूबने लगा उस बाप ने सूरज की तरफ अंगली उठाई और सूरज से कहा गो डाउन गो डाउन नीचे जाओ नीचे जाओ सूरज तो नीचे जा ही रहा था सूरज नीचे चला गया और डूब गया वो बच्चा तो हैरान रह गया अपने बाप की ताकत देखकर इतना शक्तिशाली पिता है उसका कि सूरज को भी कहता है गो डाउन तो सूरज भी नीचे चला जाता है उसके बेटे ने अपने बाप की तरफ आंखें उठाई उसके कंधे पकड़ लिए और कहा मेरे पिता इतने शक्तिशाली हैं आप तब एक कृपा और करें उस बच्चे ने अपने बाप से कहा do it daddy again do it again एक बार और करके दिखाएं उस बाप ने बड़ी कठिनाई अनुभव की होगी फिर सभी समझदार लोग रास्ते निकाल लेते हैं उसने कहा ये ऐसा काम है कि दिन में एक ही बार किया जा सकता कल सांझ फिर करके दिखाऊंगा बाप बेटे के सामने ज्ञानी बन जाता है शक्तिशाली बन जाता है पति पत्नी के सामने ज्ञानी बन जाता है शक्तिशाली बन जाता है गुरु विद्यार्थी के सामने शक्तिशाली बन जाता है ज्ञानी बन जाता है बूढ़े बच्चों के सामने ज्ञान दिखा के अपने अहंकार को भर लेते हैं लेकिन जीवन को तो धोखा नहीं दिया जा सकता इस भांति हम अपने को जरूर धोखा दे लेते हैं हमारा सारा ज्ञान ऐसा है जिसके पीछे सिर्फ एक बात की कोशिश है कि मैं ये दिखा सकूं कि मैं कुछ हूं मैं जानता हूं मैं शक्तिशाली हूं मैं अज्ञानी नहीं मैं कमजोर नहीं और सच्चाई क्या है हमारा ज्ञान और हम रेत पर खींची गई रेखाओं की तरह विलीन हो जाते हैं हमारा ज्ञान और हम सूखे पत्तों की तरह हवाओं में उड़ जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं हमारा ज्ञान और हम कागज के बबनों की तरह जरा से झोंके में गिर जाते हैं आदमी का ज्ञान भी क्या हो सकता है आदमी के खुद के होने की भी क्या सामर्थ्य है और क्या शक्ति है इस बड़े विराट जगत में आदमी क्या है आदमी की सामर्थ्य क्या है चांद तारों को शायद ही पता हो कि आप हैं चांद तारे बहुत दूर इन दरख्तों को भी शायद ही पता हो कि आप हैं दरख्त दूर इस रेत को शायद ही पता हो कि आप हैं इस विराट अस्तित्व में आपका मेरा हमारा मनुष्य का होना क्या है लेकिन मनुष्य ने बहुत से बहुत से झूठे अहंकार पोषित कर लिए हैं उनमें एक अहंकार सबसे गहरा और बुनियादी यह है कि हम जीवन की सच्चाइयों को जानते जीवन की कोई सच्चाई हमें ज्ञात नहीं जीवन बहुत अज्ञात है एक मित्र ने पूछा है कि ये हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमें ज्ञात ना हो लेकिन कुछ चीजें तो मनुष्य को ज्ञात है जीवन में बड़ी और छोटी चीजों का कोई भेद और फासला नहीं न तो सूरज बड़ा है और न एक छोटा सा दिया छोटा है एक कंकड़ भी छोटा नहीं है क्योंकि अस्तित्व की उतनी ही मिस्ट्री उतना ही रहस्य एक छोटे से कंकड़ में है जितना कि बड़े हिमालय में होगा एक पानी की बूंद भी उतनी ही रहस्यपूर्ण है जितना हिंद महासागर है छोटे और बड़े का भेद आदमी की कल्पना में है अस्तित्व में छोटे और बड़े का कोई फासला नहीं है मैंने सुना है एक सांझ जब सूरज पश्चिम में डूबने लगा तो उसने चिल्ला के कहा कि मैं तो जा रहा हूं और रात अंधेरी उतरने को है अब मेरी जगह अंधेरे से लड़ाई कौन करेगा संघर्ष कौन करेगा चांद चुप रहा तारे चुप रहे लेकिन एक मिट्टी के छोटे से दिए ने कहा मैं मैं रात भर लड़ता रहूंगा जब तक आप वापस न लौट आए और रात भर एक छोटा सा दिया रात भर अंधेरे से लड़ता रहा सूरज बड़ा होगा बहुत लेकिन एक छोटे से दिए के अंधेरे में संघर्ष को देखा है आपने एक छोटे से दिए की ज्योति को तूफानों में कपते देखा है आपने उस छोटी सी ज्योति का अपना रहस्य जो किसी सूरज से कम नहीं उस छोटी सी ज्योति में वो सब छिपा है जो बड़े से बड़े सूरज में होगा या हो सकता है कौन है छोटा और कौन है बड़ा एक कवि ने कहा है कि अगर हम एक छोटे से फूल को भी पूरा जान लें तो हम पूरे विश्व को जान लेंगे पूरे जगत को पूरे जीवन को एक छोटा सा फूल एक घास का छोटा सा फूल भी अगर आदमी पूरी तरह जान ले तो जानने को फिर कुछ भी शेष नहीं रह जाता है चाहे एक बूंद को जान लेने से सागर नहीं जान लिया जाता चाहे एक रेत के छोटे से टुकड़े को जान लेने से सारे पहाड़ नहीं जान लिए जाते एक छोटे से अणु का उद्घाटन और जीवन के सारे अस्तित्व का बोध नहीं हो जाता है लेकिन नहीं कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है और जिसे हम ज्ञान समझ रहे हैं वो ज्ञान नहीं केवल काम चलाओ यूटिलिटेरियन परिचय है उस परिचय के कारण ये भ्रम पैदा हो जाता है कि हम जानते हैं मुझे प्रीति कर रहा है एक व्यक्ति का उल्लेख एडिशन एक छोटे से गांव में गया था एडिशन ने अपने जीवन में एक हजार आविष्कार किए शायद कोई वैज्ञानिक इतने आविष्कार कभी नहीं किया है एक हजार विद्युत के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए उससे बड़ा कोई तत्ववेत्ता नहीं था कोई नहीं था जो इतना जानता हो विद्युत के संबंध में जितना एडिशन वो एक छोटे से गांव में गया है गांव के लोगों को पता भी नहीं कि वो कौन है गांव के स्कूल में एक छोटी सी एग्जीबिशन एक प्रदर्शनी चल रही है स्कूल के बच्चों ने बहुत से खेल खिलौने बनाए हैं स्कूल के विज्ञान के विद्यार्थियों ने बिजली के भी खेल खिलौने बनाए हैं छोटी नाव बनाई है रेलगाड़ी बनाई है मोटर गाड़ी बनाई है और बच्चे बड़े आनंद से प्रदर्शनी को जो भी लोग देखने आए हैं उन्हें समझा रहे हैं एक एक चीज को एडिशन भी घूमता हुआ उस प्रदर्शनी में पहुंच गया है वो विज्ञान के हिस्से में चला गया है छोटे छोटे बच्चों से समझा रहे हैं कि नाव विद्युत से चलती है ये गाड़ी विद्युत से चलती है वो खुशी से देख रहा है अबाक विस्मय से भरा हुआ वे बच्चे और भी खुश होकर उसे समझा रहे हैं तब अचानक उस बूढ़े ने उन बच्चों से पूछा ये तो ठीक है कि तुम कहते हो ये विद्युत से चलती है ये मशीन ये नाव ये गाड़ी लेकिन मैं अगर तुमसे पूछूं तो तुम बता सकोगे क्या एक छोटा सवाल मेरे मन में आ गया वट इज इलेक्ट्रिसिटी विद्युत क्या है बिजली क्या है वे बच्चे बोले बिजली हम नाव तो चलाना जानते हैं बिजली से लेकिन बिजली क्या है ये हमें पता नहीं हम अपने शिक्षक को बुला लाते हैं वे अपने शिक्षक को बुला लाए हैं और एडिशन ने उनसे भी पूछा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी शिक्षक भी हैरान हो गया वो विज्ञान का स्नातक है ग्रेजुएट है उसने कहा ये तो हमें पता है कि विद्युत कैसे काम करती है लेकिन ये हमें कुछ भी पता नहीं कि विद्युत क्या है लेकिन आप ठहरे हमारा प्रिंसिपल तो डीएससी है वो तो विज्ञान का बहुत बड़ा विद्वान हम उसे बुला लाते वो अपने प्रिंसिपल को बुला लाए हैं और एडिशन का किसी को पता नहीं कि सामने जो आदमी खड़ा है वो विद्युत को सबसे ज्यादा जानने वाला आदमी है वो प्रिंसिपल आ तो गया है उसने समझाने की कोशिश की है लेकिन एडिशन पूछता है मैं ये नहीं पूछता कि बिजली कैसे काम करती है मैं ये नहीं पूछता कि बिजली किन किन चीजों से मिलकर बनी है मैं ये पूछता हूं कि बिजली क्या है उस प्रिंसिपल ने कहा क्षमा करे इसका तो हमें कुछ पता नहीं वो सब बड़े पशुपेश में बड़ी चिंता में पड़ गए तब वो बूढ़ा हंसने लगा और उसने कहा शायद तुम्हें पता नहीं मैं एडिशन हूं और मैं भी नहीं जानता हूं कि बिजली क्या है ये विनम्रता ये ह्यूमेनिटी सत्य के शोधक के लिए पहली शर्त है एडिशन कह सकता है कि मैं भी नहीं जानता हूं कि विद्युत क्या है ये धार्मिक चित्त का लक्षण है रिलीजियस माइंड का लक्षण है कि वो जीवन के इस अनंत रहस्य को स्वीकार करता है जो व्यक्ति जीवन के रहस्य को स्वीकार करता है वो व्यक्ति अपने ज्ञानी होने को स्वीकार नहीं कर सकता है क्योंकि ये दोनों बातें आपस में विरोधी हैं जब कोई कहता है मैं ज्ञानी हूं तब वो ये कहता है कि जीवन में अब कोई रहस्य नहीं मैंने जान लिया जिस बात को हम जान लेते हैं उसमें फिर कोई रहस्य कोई मिस्ट्री नहीं रह जाती जो व्यक्ति कहता है मैं नहीं जानता हूं वो ये कह रहा है कि जीवन एक रहस्य है जीवन एक अनंत रहस्य है व्यक्ति के अज्ञान पर मेरा इतना जोर क्यों है ये जोर इसलिए है ताकि जीवन की रहस्यमयता जीवन का मिस्टीरियस होना आपके स्मरण में आ सके ज्ञानी के लिए कोई रहस्य नहीं है जहां हमने जान लिया वहां रहस्य समाप्त हो जाता है हजारों वर्षों से धर्म शास्त्रियों ने मनुष्य के रहस्य की हत्या की है वे हर चीज को ऐसा समझाते हुए मालूम पड़ते हैं जैसे जानते हो उनसे अगर पूछो कि दुनिया किसने बनाई तो उनके पास रेडीमेड उत्तर तैयार है वे कहते हैं कि ईश्वर ने बनाई वे यहां तक बताते हैं उनमें से कुछ कि छह दिन तक उसने दुनिया बनाई फिर सातवें दिन विश्राम किया उनमें से कुछ ये भी कहते हैं कि तिथि तारीख भी बताते हैं कि आज से इतने हजार वर्ष पहले फला सन में फला तिथि में ईसा से चार हजार वर्ष पहले पृथ्वी बनाई गई जीवन बनाया गया वे हर चीज का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार हैं मनुष्य कैसे जान सकता है कि जीवन कब बनाया गया और कैसे बनाया मनुष्य तो जीवन के बीच में स्वयं आता है वो जीवन के प्रारंभ को कैसे जान सकता है सागर की एक लहर कैसे जान सकती है कि सागर कब बना होगा सागर के होने पर ही लहर उठती है सागर जब नहीं था तब लहर भी नहीं हो सकती है तो लहर कैसे जान सकती है मनुष्य कैसे जान सकता कोई भी कैसे जान सकता है कि जीवन कब और कैसे पैदा हुआ है लेकिन नहीं ज्ञानियों का दम्प बहुत मजबूत है वे हर चीज का उत्तर देने को हमेशा तैयार है ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसके लिए वे इनकार करें ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसके लिए वे कहें कि हम नहीं जानते आप कोई भी प्रश्न लेकर चले जाएं धर्म शास्त्रियों के पास हमेशा उत्तर तैयार है इसलिए मैं आपसे कहता हूं एक वैज्ञानिक तो शायद कभी जीवन के सत्य के करीब पहुंच जाए क्योंकि वैज्ञानिक मन में एक ह्यूमिलिटी है एक विनम्रता है लेकिन धर्मों के पंडित कभी परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकते क्योंकि उनके पास हर बात का उत्तर है हर बात का ज्ञान है वे सर्वज्ञ हैं वे सभी कुछ जानते हैं उनकी सर्वज्ञता जीवन के रहस्य को नष्ट कर रही है इसका उन्हें कोई ख्याल नहीं आदमी के जीवन से धर्म इसी तरह धीरे धीरे क्षीण होता गया है अगर मनुष्य को वापस धर्म की दिशा में ले जाना हो तो उसके रहस्य को फिर से जन्म देने की जरूरत है इसलिए मैंने सुबह आपसे कहा आदमी को अपने अज्ञान का बोध होना चाहिए ये बहुत ये बोध अत्यंत अनिवार्य है इस बोध के बिना कोई गति नहीं हो सकती एक मित्र ने पूछा है कि ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि उसमें हम साधना नहीं कर सकते हैं मुझे पता नहीं उनकी परिस्थितियां कैसी हैं लेकिन मैं ऐसी एक भी परिस्थिति नहीं जानता हूं और कल्पना भी नहीं कर पाता हूं जिसमें की साधना न की जा सके परिस्थितियों की बात हमेशा आदमी का बहाना है और हम बहाने ईजाद करने में बहुत कुशल लोग हैं जो हमें नहीं करना होता है उसके लिए हम हमेशा बहाना ईजाद कर लेते हैं एक मंदिर बन रहा था सारे आसपास के गांव के लोग श्रमदान कर रहे थे उस मंदिर में आके मंदिर बनाने में मंदिर के बनाने वालों ने प्रार्थना की थी गांव गांव के लोगों से कि सभी आके थोड़ा थोड़ा मंदिर बनाए कोई एक ईंट ले आए कोई एक ईंट जोड़ दे कोई एक पत्थर ले आए कोई एक पत्थर रख दे कोई मिट्टी ढो दे लेकिन वो सब लोगों के श्रम से बने मंदिर बड़े समझदार लोग रहे होंगे उस गांव के क्योंकि जब एक आदमी मंदिर बनाता है तो वो मंदिर अहंकार का मंदिर हो जाता है और जब हजारों लोग प्रेम से मिलकर कुछ बनाते हैं तो वो प्रेम ही उस स्थान को मंदिर बना देता है तो गांव दूर दूर से लोग उस मंदिर को बनाने आए हुए थे वो किसी एक आदमी के पत्थर के आसपास बनने वाला मंदिर नहीं था काम शुरू हो गया था लेकिन एक आदमी सुबह से ही आके खड़ा हो गया है चुपचाप उदास वो कोई काम नहीं कर रहा है वो एक झाड़ के नीचे चुपचाप खड़ा है मंदिर बनाने वाले दो चार लोग उसके पास गए और कहा मित्र तुम कुछ हाथ नहीं बटाओगे तुम कुछ सहयोग नहीं दोगे उस आदमी ने कहा मैं भी चाहता हूं कि प्रभु के मंदिर में श्रम करूं मैं भी चाहता हूं कि यह आनंद मुझे भी मिले लेकिन भूखे पेट आदमी हो तो क्या कर सकता है मैं भूखा पेट भूखे पेट कैसे श्रम किया जा सकता है बात तो ठीक थी वे लोग उसे अपने घर ले गए उसे पेट भोजन कराया फिर वे सब मंदिर की तरफ वापस लौटे वे चारों लोग तो मंदिर में काम करने लग गए वो आदमी फिर अपने वृक्ष के नीचे जाके वैसा ही खड़ा हो गया जैसे सुबह खड़ा था थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वो फिर उदास वहीं खड़ा है उसने न एक पत्थर उठाया न एक ईट ढोई है वे फिर उसके पास गए और कहा मां से फिर कोई तकलीफ आ गई क्या आप फिर भी कोई सहायता नहीं कर रहे हैं उसने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि प्रभु के मंदिर में श्रम करूं लेकिन भरे पेट कोई श्रम कर सकता है क्या सुबह वो खाली पेट था इसलिए श्रम नहीं कर सकता था अब वो भरे पेट है इसलिए श्रम नहीं कर सकता अब यह आदमी कब श्रम करेगा कोई इसलिए साधना नहीं कर पाता कि गरीब है कोई इसलिए साधना नहीं कर पाता कि अमीर है कोई इसलिए साधना की तरफ नहीं जा पाता कि पेट खाली है कोई कहता है पेट भरा है इसलिए हम उस और नहीं जा पाते मुझे हर परिस्थिति के लोग मिलते हैं और मैंने पाया कि हर परिस्थिति के लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम कुछ करने में समर्थ नहीं है अब तक मुझे एक आदमी नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं करने में समर्थ हूं जरूर कोई और बात है परिस्थितियां असली कारण नहीं है असली कारण जो हम नहीं करना चाहते हैं उसके लिए हमेशा जस्टिफिकेशन उसके लिए हमेशा न्याय